ये ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आएं या तुम्हारा परवरदिगार खुद आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आ जाएं हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की कोई निशानी आ गई उस दिन किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके लिए कारामत नहीं होगा जो पहले ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान के साथ किसी नेक अमल की कमाई न की हो लिहाजा इन लोगों से कह दो कि अच्छा इंतजार करो हम भी इंतजार कर रहे हैं